ष्ठ मंत्र हो गया था सप्तम चलेगा यश्रोत्रेण न शृणोति ये श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं उपासते श्रोत्रेण यद ब्रह्म न शृणोति श्रवण इंद्र से विषय नहीं करता है कोई श्रवण इंद्र का विषय नहीं होता है येन इदम श्रोत्रम श्रुतम ये श्रोत्र भी विषय होता है श्रोत्र का भी प्रकाशक श्रवण इंद्रिय में जो शब्द ग्रहण सामर्थ्य उसका हेतु है तदेव तम ब्रह्म विधि वही ब्रह्म है न इदम यद इदम उपासते इदम तेन जो उपासना करते हैं भेद अपरिचिन्न वह ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अपरिचिन्न है देश काल वस्तु परिचय रहित उपास्य मेरे से भिन्न मैं उपासक भिन्न हूँ ये बुद्धि से भेद बुद्धि से परिचिन्न की जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है यह श्रोत्रेण न श्रुणति श्रवण इंद्रिय श्रवण सब इंद्रिय में देवता अधिष्ठात्री देवता है अनुग्राहक है श्रोत्र से दिग देवता दिग देवता अधिष्ठित है न दिग देवता के द्वारा अधिष्ठित है दिग देवता जिसमें अधिष्ठाता है इंद्र का अनुग्राहक आकाश कार्य न श्रोत्रेन्द्र आकाश का कार्य न्याय मत के अनुसार तो कर्ण सस्कुल अवचन आकाश को इंद्र कहते हैं आकाश को किंतु आकाश को नित्य मानते इसलिए आकाश का कार्य कारण नहीं है न्याय मत के अनुसार वेदांत में पांचभूत की उत्पत्ति होती है आकाशी की उत्पत्ति श्रुति में कही गई आकाश नित्य नहीं है आकाश उत्पन्न होता है और पहले सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति पंचीकरण होता है आकाश सावयव है आकाश के अपंचीकृत सत्व गुण का कार्य है श्रवण इंद्रिय तो आकाश का कार्य आकाश कार्यन श्रोत्रेण श्रोत्र इंद्र से कोई विषय नहीं करता है और श्रवण इंद्र केवल के, कोई इंद्रिय मन के बिना विषय ग्रहण नहीं करने के लिए समर्थ नहीं है इसलिए कहा मनोवृत्ति संयुक्त ना श्रवण इंद्र के साथ शब्द का संबंध होता है तो मन का भी इंद्र के द्वारा विषय के साथ संबंध होता है मन का परिणाम उसको कहते वृत्ति मन की वृत्ति से संबंध होकर के मन का संयोग तार्किक लोग भी मानते हैं इंद्रिय के साथ यहाँ मन वृत्ति का संयोग मन का परिणाम वृत्ति वृत्ति का संयोग इंद्रिय के साथ होता है इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ ही होता है तो मनोवृत्ति संयुक्तेन श्रोत्रेण मनोवृत्ति संयुक्त मन का परिणाम वृत्ति वृत्ति संयुक्त श्रवण इंद्र से जिसमें दिग देवता अधिष्ठाता है जो इंद्र आकाश का कार्य उसे लोक विषय करता है शब्द को किंतु ब्रह्म को नहीं है न विषय करोति लोको लोक है करता कोई लोक विषय नहीं करता है ग्रहण नहीं करता है श्रवण इंद्र के द्वारा श्रवण इंद्र का विषय नहीं है श्रवण इंद्र के द्वारा तो शब्द का ग्रहण होता है येन श्रुत्रमिदं श्रुतम अश्रुतवि श्रुतम का तो विषयीकृतम यत् प्रसिद्ध चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयीकृतम येन येन केन जो आत्मज्योति आत्म रूप ज्योति प्रसिद्ध है सूत्र से श्रुतम कहा गया जो प्रसिद्ध है आत्मज्योति आत्म रूप ज्योति चैतन्य आत्म चैतन्य आत्मा का जो आत्म ज्योति है आत्म ज्योति ज्ञान रूप उससे विषयीकृतम उसका विषय हो जाता है श्रवण इंद्रिय श्रवण इंद्रिय भी उसके द्वारा प्रकाशित है एक दृग रूप चेतन है उससे भिन्न सारे पदार्थ चिद भाष्य चित प्रकाश्य चेतन के द्वारा प्रकाशित होते हैं चेतन का विषय हो जाते हैं श्रवणेन्द्रिय भी चिद रूप ब्रह्म का विषय हो जा हो जाती है इंद्रिय का विषय नहीं ब्रह्म आत्मज्योतिषा विषय कृतम तदेव इत्यादि पूर्ववत तदेव तम ब्रह्म विधि नेदम यदि न उपासते ऐसे उत्तरार्ध मंत्र का उत्तरार्ध है जिसकी व्याख्या पहले हो गई आगे अष्टम मंत्र में यत प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते यद प्राणेन न प्राणिति इंद्रिय के प्रकरण चल रहा है इसलिए प्राण शब्द से घ्राण लिया प्राण शब्द किसी भी इंद्रिय के लिए प्रयोग होता है तो ने कहा था घ्राण इंद्रिय से विषय नहीं करता न प्राणिति का तो विषय नहीं करता लोग कोई इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय जब लेंगे घ्राण इंद्रिय पृथ्वी का कार्य है घ्राण अश्विन देवता है ईश्वर देवता विशिष्ट इंद्र के द्वारा कोई विषय नहीं करता है ये न प्राण प्रणयते जिसके द्वारा घ्राण इंद्र भी विषय हो जाता है घ्राण इंद्र का भी प्रकाशक घ्राण इंद्र में जो गंध ग्रहण सामर्थ्य उसका हेतु है निमित्त है ब्रह्म तदेव तम ब्रह्म विधि इदं तेन जो परिचन्न की उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अपरिचन्न है यत प्राणेन घ्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन पृथिव्या इदम इति पार्थिवम घ्राणेन्द्र पार्थिव है पृथ्वी का कार्य है नासिका पुटांतर अवस्थित है ना नासिका पुट के अंदर तर्क में कहा गया नासिका अग्रवर्ती मीमांसा में नासिका पुट के अंदर स्थित है अंतकर्ण प्राण वृत्तिभ्याम सहित है ना वृत्ति सहित प्राण का भी व्यापार होता है प्राण व्यापार से अंतकरण होता है अंतकरण प्राण वृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय से यह न प्राणिति जिसको प्राण न विषय करते हैं गंधवत न विषय करती घ्राण इंद्रिय से तो गंध विषय होता है गंध के समान उसको ग्रहण नहीं करते ही ग्रहण इंद्रिय न विषय करती येन प्राण प्रणीयते येन चैतन्य आत्म ज्योतिषा जैसे पूर्व में आया चिद रूप आत्म प्रकाश है उसके द्वारा भुजा अवभाष्यत्वेन विषय स्व विषय प्रति प्राण प्रणीयते जो उसके द्वारा अवभाष्य प्रकाश है घ्राणेन्द्रिय और घ्राण स्व विषय प्रति प्राण प्रणीत अपने विषय के प्रति प्राण का व्यापार होता है विषय के प्रति जाता है घ्राण विषय ग्रहण करने के लिए समर्थ है जिसके द्वारा जिसके कारण जिससे प्रकाशित होकर के तदेव ब्रह्मत्व विद्धि तदव इत्यादि सर्व समानम परिचिन्न जिसकी लोग परिचिन्न इदंतेन परिचिन्न की उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है अपरिचिन्न ब्रह्म कहन से देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म है वस्तु परिच्छेद कहन से ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है इसलिए उपासक भी ब्रह्म से भिन्न नहीं अर्थात उपास्य उपासक भाव भेद यदि है तो वह ब्रह्म नहीं है सर्व देश में सर्व काल में होने पर भी सर्व वस्तु ब्रह्म है कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है जब उपासक अपने से भिन्न मानता है तो उपासक को परिचिन्न मानता है वस्तु परिचिन्न हो गया जो वस्तु परिचिन्न होगा वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो अनंतम ब्रह्म अपरिचिन्न देश काल वस्तु परिचित रहित जो परिचिन्न की उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत शंकर भगवत पाद कृतौ केन उपनिषद पदभाष्य प्रथम खंड अब ये पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम एक साथ वाक्य भाष्य है यन मनसा इत्यादि समानम यन मनसा न मनुते तो मनो येन इदम मनोमतम येन आहुर मनोमतम मनोमतमिति येन ब्रह्मणा मनोपि विषयीकृतम मन का तो विषय नहीं मन स्वयं विषय हो जाता है जिसे ब्रह्म चेतन के द्वारा मनो भी विषय कृतम तो किसके द्वारा मन विषय होगा मन को विषय करने वाला कौन है नित्य विज्ञान स्वरूपेण इत्यतत नित्य विज्ञान स्वरूप एक विज्ञान तो उत्पत्ति नाश वाला रूप रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान होता है किंतु जो नित्य विज्ञान है जिसका लोप नहीं होता है सुसुप्ति अवस्था में भी रहता है विज्ञप्ति नहीं विज्ञातर विज्ञप्तिर विपरलोप विद्यते नित्य विज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म रूप नित्य ज्ञान विज्ञान है उसके द्वारा ही मन विषय होता है मन का प्रकाशक है ब्रह्म साखी अभी जागृत अवस्था में भी मन मन की वृत्ति सब को प्रकाश करता है ब्रह्म मन में काम संकल्प विचिकित्सा सुख दुख जितने मन में वृत्ति और सब को प्रकाश करता है ब्रह्म मन बुद्धि को प्रकाश करने वाले जानने वाले बुद्धि को जानने वाला मन को जानने वाला ही ब्रह्म है आप अपने मन को जानते हैं मन में कुछ सुख दुख इच्छा है तो आप जानते हैं तो मन को जानने वाला आपका स्वरूप है आप ही मन को जानते हैं जो जानने वाला वही स्वप्न में रहता है वही सुषुप्ति में रहता है वही साक्षी ब्रह्म है यह न ब्रह्मणा मनोपि विषय कृतम नित्य विज्ञान स्वरूप से वही ब्रह्म है टीका में मंत्र समुदाय से अर्थमाह यन मनसा यक्षोत्रेण यत प्राणेन सब जितने मंत्र सब का अर्थ कहते हैं भाष्य में सर्व करणानाम अविषयम तानि च सब व्यापाराणि सविषयाणि नित्य विज्ञान स्वरूप वासतया येन अवभाष्यन्ते इति श्लोकार्थ सारे मंत्र का अर्थ श्लोक सदस्य मंत्र सर्व करणानाम अविषयम किसी भी इंद्र का विषय नहीं है घ्राण इंद्र आदि चक्षु आदि पांच बाह्य अं, अंतकण भी सर्व करणानाम अभिषय सब इंद्र का अभिषय है तानि च करणानि इंद्रियानि तानि तानि प्रकाशयन्ते जिसके द्वारा सब इंद्र का अभिषय किंतु इंद्र जिसके द्वारा प्रकाशित है तानि च करणानि इंद्रियानि सब व्यापाराणि सविषयानि केवल इंद्रिय नहीं इंद्रिय के व्यापार इंद्रिय का व्यापार विषय के साथ संबंध इंद्रिय के व्यापार व्यापार कहना स इति सब व्यापाराणि सविषयानि विषय ही सहित सविषयानि विषय के साथ इंद्रिय इंद्रिय का व्यापार इंद्रिय के विषय सब को प्रकाश करता है चिद रूप ब्रह्म जो नित्य विज्ञान स्वरूप है नित्य विज्ञान स्वरूप अवभासतया नित्य विज्ञान स्वरूप प्रकाश रूपे उससे येन येन अवभाषन्ते नित्य विज्ञान स्वरूप अवभाषतया अवभाषता प्रकाश रूपे स्वयं प्रकाश रूपे येन चिद रूपेण अवभाष्यन्ते ब्रह्म ब्रह्म से प्रकाशित तो होते सब सब ये नित्य विज्ञान सब से प्रकाश इनका नित्य विज्ञान स्वरूपेण प्रकाश इनका होता है अवभाष ये शाम नेन अवभाषन्ते तद ब्रह्मत्वम विधि ये श्लोक का अर्थ हुआ सारे प्रपंच इंद्रिय का इंद्रिय इंद्रिय के व्यापार इंद्रिय के विषय सब को प्रकाश करने वाला केवल अनुभव अपने स्वयं विचार करने के लिए मन बुद्धि को जानने वाला जो मन को जानता है बुद्धि को जानता है मन की वृत्ति को जानता है वही ब्रह्म है केवल वृत्ति नहीं मन का जो ग्रहण करता है विषय के साथ मन किसी विषय को चिंतन करता है रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ वो ज्ञान है मन की वृत्ति है तो उसी को जानता है साखी चेतन घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ रूप ज्ञान हुआ रस ज्ञान हुआ में कभी संशय नहीं होता है ज्ञान होते ही ब्रह्म उसको प्रकाश कर लेता है जहाँ तार्किक लोग कहते पहले घट ज्ञान होगा उसके बाद एक अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं अयम घट है ये ज्ञान व्यवसाय निश्चय ज्ञान है उसके बाद घटम हम जानामि घट ज्ञानवान हम ये घट ज्ञान का भी ज्ञान घट ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष मन से ज्ञान होता है इसे तार्किक लोग कहते हैं वो मानस प्रत्यक्ष जो घट ज्ञान का ज्ञान हो अनुव्यवसाय ज्ञान फिर अनुवेशा ज्ञान का अनुव्यवसाय होगा नहीं तो वहां फिर यदि अनुव्यवसाय का दूसरा अनुवेशा उसका भी अनुवेशा माने अनवस्था दोष है तो अनुवेशा ज्ञान को स्वयं प्रकाश कहते तो वहाँ वेदांति कहते घट ज्ञान होते ही यदि कभी अनुवेशा ज्ञान नहीं हुआ तुरंत कोई सर्प देखा कहीं अन्य कुछ देख लिया अन्य ज्ञान हो गया तो आगे संदेह होना चाहिए मुझे घट ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था अनुवेशा नहीं होने पर भी संस्कार होता है और स्मरण होता है यदि आगे अनुवेशा ज्ञान नहीं हुआ घट ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ अनुवेश ज्ञान तो घट ज्ञान का स्मरण नहीं हुआ था नहीं होना चाहिए किंतु घट ज्ञान हुआ था घट ज्ञानम मम आसीत अभवत ऐसे हुआ था ऐसे स्मरण होता है घट का स्मरण अलग घट ज्ञान का स्मरण अलग घट तत्र आसीति घट था ये घट का स्मरण और घट ज्ञान मुझे हुआ था मैंने घट को देखा था देखा घट देखते ही तुरंत कहीं अन्यतर सर्प देखा भाग गया बाद में कोई पूछा घट देखा था हां घट देखा था कि तो घट का घट ज्ञान का स्मरण होता है अनुव्यवसाय के बिना स्मरण नहीं होना चाहिए कोई जरूरी नहीं कि अनुव्यवसाय होना चाहिए जब जो कोई ज्ञान होता है तुरंत उसको मैं जान रहा हूँ कहीं देखते घट देखा तो घट ज्ञान वाला हम इस अनुव्यवसाय तो हमेशा होना कोई जरूरी नहीं इसलिए वेदांती कहते साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाता है घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति उत्पत्ति के समय ही साक्षी चेतन उसको प्रकाश कर लेता है इसलिए कभी घट ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था ऐसा संदेह नहीं होता है तो ये घट ज्ञान का जो प्रकाशक है घट ज्ञान को भी प्रकाश करता है साक्षी सुख दुख को भी प्रकाश करता है मन को बुद्धि को प्रकाश करता है वही ब्रह्म है क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाशयति इति है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत ये क्षेत्री तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति एक पहला क्या रवि जैसे प्रकाशयति यथा एकम कृष्णम लोकम इमम रवि एक रवि इमम कृष्णम लोकम प्रकाशयति एक सूर्य सारे लोक प्रकाश करता है तथा एक ही क्षेत्री क्षेत्रज्ञ कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश सारे क्षेत्र को प्रकाश करने वाला है इतिष्ण तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति उसके प्रकाश से भाषा भास का तृतीयांत भाषा प्रकाश है ना उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है इति आतरवणी मुंडक उपनिषद में यह न प्राण प्रणयते कहा गया क्रिया रपि आत्मविज्ञान निमित्त इति तत अंतकण में शक्ति ज्ञान शक्ति और प्राण में क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति भी आत्मविज्ञान निमित्त आत्मे विज्ञानम निमित्तम यस्य क्रियाशक्त्या आत्म क्रियाशक्ति आत्मविज्ञान निमित्ता आत्मविज्ञान में आत्मा एव विज्ञानम आत्मा ही ज्ञान रूपे वही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो मन बुद्धि का प्रकाशक साक्षी है बुद्धि को जानने वाला टीका में कहां कहां कहां बोलो कहां किसके लिए बोलते तो कहां अष्टम मंत्र में मंत्र में न प्राणित नहीं क्या न है यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते मंत्र में न है आ, नया में नया में अधिक त्रुटि होगी न है यत् प्राणेन अष्ट मंत्र में मंत्र में न चाहिए यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं दमुपासते न छुटिया बना देना टीका में यत् सर्वकर्णानाम् अभिषयम् येन निर्विशेषण सर्वाणि कर्णानि भाष्यन्ते तद् ब्रह्मैव त्वं विद्धि सर्वकर्णानाम् अभिषेय किसी भी कर्ण का विषय सर्व करण का अभिषय है येन सर्वाणि कर्णानि भाष्यन्ते जिससे सब कर्ण इंद्र प्रकाशित होती है केन निर्विशेषण कोई विशेष नहीं शुद्ध चिद्रूप है निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म से सर्वकरणानि भाष्यन्ते प्रकाशन्ते तद ब्रह्मेव विधि उसको ही समझो ब्रह्म ततो अतिरिक्त ज्ञान यत्न न यत्न यत्नोपरमेव लक्ष्यते विधि अनेन अतिरिक्त मां विधि अभिप्राय तदेव तम ब्रह्म विधि उसको ही जानो उसको ही ब्रह्म समझे का अर्थ उससे अतिरिक्त ज्ञान यत्न न कर्तव्य सबका प्रकाशक ब्रह्म है उसको जानना क्या ज्ञान का तो विषय नहीं होगा इसलिए उससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है सारे भिन्न तद जस बुद्धि आदि का साक्षी है समिंद्र का प्रकाशक अपना स्वरूप है उससे भिन्न ब्रह्म नहीं है सब भिन्न सब का निषेध कर दे तत्व अतिरिक्त ज्ञान आया सब का निषेध कर देंगे तो और निषेध करने के लिए कुछ रहेगा सब का निषेध करने के बाद और निषेध करने के लिए क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा अपना स्वरूप जो उसका निषेध नहीं कर सकते वही ब्रह्म है अतिरिक्त ज्ञान है यत्न न कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म का ज्ञान के लिए प्रयत्न करना जरूरत नहीं अतिरिक्त में जो ब्रह्म तो बुद्धि उसका निषेध करना अतिरिक्त ज्ञान के लिए जो यत्न उसको भी छोड़ देना अतिरिक्त कोई नहीं है भेद भिन्न जानने की जो इच्छा है वो समाप्त कर देना भिन्न में ब्रह्मत्व तो बुद्धि सत्यत्व तो बुद्धि को छोड़ना इसलिए ततो अतिरिक्त ज्ञान है यत्न न कर्तव्य अपने स्वरूप से अतिरिक्त जानने के लिए अतिरिक्त ब्रह्म इसके जानने के लिए जो इच्छा यत्न उसको नहीं करना है यदि यत्न उपरमेव लक्ष्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि कह करके उसको ब्रह्म समझो तो हम तदेव ब्रह्म विद्धि कहेंगे तो समझने वाला कोई अलग है ब्रह्म कोई अलग है और समझने के लिए कोई साधन उसके पास है है क्या तो सब ब्रह्म से भिन्न सब का निषेध कर दिया सब इंद्र प्रकाशित है तो उसको ब्रह्म समझो कौन समझेगा समझने वाला कौन रहा ब्रह्म से बिना कुछ यही नहीं से तदेव ब्रह्मत्व विद्धि का अर्थ जैसे पिता कहते पुत्र को विषम भुक्षो पुत्र शत्रु के घर में भोजन करना जानना चाहता है पिता कहते विषम भुक्ष विष खाओ उसका अर्थ जाकर विष बैठ कर खा लो या खड़े खड़े खाओ विषम भुक्ष का अर्थ शत्रु घर में भोजन नहीं करो भोजन निवृत्ति में लक्षण है जैसे यहाँ भी तदेव तम ब्रह्म विद्धि क्या लक्ष्य है कि अत्रितम मा विद्धि यत्न तो ऊपर में व लक्ष्यते ये लक्षणा से कहा जाता है विद्धि तनेन अतिरिक्त मां विद्धि ते अभिप्राय तदेव ब्रह्म विद्धि का अर्थ अतिरिक्त मां विद्धि अन्य को नहीं विद्धि पद का अर्थ यत्न उपरम में लक्षणा है अतिरिक्त माँ विद्धि जो ब्रह्म से भिन्न को जानने की इच्छा है उसको छोड़ो अतिरिक्त है ही नहीं तो सर्वत्र यत्न उपराम अन्य कुछ जानने की इच्छा नहीं जानने की प्राप्त करने की इच्छा सब छोड़ दे अपने अतिरिक्त भिन्न सब का क्योंकि विदित अविदित अभ्याम अन्यत तो कह करके स्वस्वरूप ब्रह्म कह दिया अपने से भिन्न जितने हैं सब मिथ्या है जो भिन्न है वो परिचिन्न है वस्तु परिचिन्न है और जो वस्तु परिचिन्न वो मिथ्या है परिचिन्न वस्तु सत्य नहीं सत्य तो है यस्या सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो सर्वदा हो वो सत्य है जो सर्वत्र सर्वदा नहीं परिचिन किसे भिन्न हो गया वस्तु परिचन्न हो गया वस्तु परिचिन ब्रह्म नहीं मिथ्या है तो अतिरिक्त सबका निषेध अतिरिक्त वास्तव है नहीं है अतिरिक्त बुद्धि होती है वो वास्तव नहीं है उसमें अतिरिक्त जानने की इच्छा तो यत्न नहीं करो ये अभिप्राय हुआ अष्टम मंत्र प्रथम खंड हो गया आगे अथ द्वितीय खंड एवं हेयो उपादेय विपरीतस्त्वम आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायित शिष्यो अहमेव ब्रह्मेति सृष्टि वेदः मामिति गृह्ण्यादिति आशंक्य आचार्य आशंक्य आचार्य शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि त्या हेयो उपादेय विपरीत अन्य देव विदिता तथा विदिता तदि हेय और उपादेय है त्याज्य उपादेय है ग्राह्य ये दोनों से विपरीत है त्वम आत्मा ब्रह्म हे उपादेय विपरीत तो कौन है आत्मा त्वम तो नहीं ना हे उपादेय विपरीत त्वम आत्मा ब्रह्म आत्मा अलग ब्रह्म अलग त्वम अलग नहीं हे उपाधि विपरीत त्वम त्वम का अर्थ देह नहीं आत्मा और आत्मा अलग ब्रह्म के ऊपर बैठा है ये नहीं वही ब्रह्म है जो बुद्धि आदि का साक्षी है वही ब्रह्म है तो त्वम ही वही है तुम बुद्धि के साक्षी हो त्वम आत्मा त्वम शब्द से शरीर नहीं लेते क्योंकि देह आदि में अहम बुद्धि इतने है त्वम कहते सम अहम देह आदि में आ जाता है अहम देहादि विशिष्ट आत्मा कोई अंदर है और ब्रह्म के ऊपर है ऐसे शंका नहीं जो त्वम है बुद्धि के आदि की साक्षी है वही त्वम वही आत्मा है बुद्धि को प्रकाश करने वाला जो बुद्धि को प्रकाश करने वाला चेतन है वही है यह नाहुर मनोमतम जिसे मन प्रकाशित वही ब्रह्म तो मन का प्रकाश रूप ब्रह्म आत्मा है वही त्वम है इति प्रत्यायित ज्ञापित ज्ञान कराया गया आचार्य के द्वारा शिष्य शिष्य अहमेव ब्रह्म इति सृष्टि वेदाहमाम तो सरल है मैं ही ब्रह्म हूँ अहमेव ब्रह्म तो तत्वमसि सुन करके शिष्य ज्ञान अहमेव ब्रह्म इति तो ज्ञान हो गया मुझे मैं ब्रह्म तो हूं और क्या जानना है तत्वमसि तत् ब्रह्म तुम हो तो मैं ब्रह्म हूं बस पहले सुष्ट वेद हम अपने को मैं जान लिया ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया जाकर कोई कोई महात्मा के पास बैठते आसन लगाकर बैठकर सीधा बैठ के हिलते डुलते नहीं हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है सब मिथ्या है बस जो कहेंगे तब तो फिर क्या कहें महात्मा बोले ठीक बिल्कुल ठीक है इसमें रहो उसमें कोई विचलता नहीं हो यही ठीक है फिर जाकर सबको कहेंगे महाराज जी के पास गया था महाराज जी ने हमको कहा तुमको ज्ञान हो गया प्रमाण पत्र जब तक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ दूसरे को फिर प्रमाण देते महाराज जी के पास गया था वहां भी गया था उधर दूर में कोई महात्मा उनके पास गया था वो भी कहे तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया दो तीन महापुरुषों ने कहा तो इसका अर्थ क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको मानना पड़ेगा फिर आगे हमारी पूजा करो हम ज्ञानी गुरु मानो ये सुष्ट वेदा हम मुझे मैं अच्छी तरह से जान लिया क्योंकि मैं ही ब्रह्मा हूं इतने आशंक्य ऐसे ऐसा ग्रहण करे ऐसे हो जाता है भ्रांति हो जाती है ज्ञान होना जितने को ज्ञानित्व तो का आरोप भ्रांति बहुत को होता है भ्रांति तो भौतिक है भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी किंतु भ्रांति के अपेक्षा और अनिष्ट है आरोप समझते हैं ज्ञान नहीं हुआ किंतु लोगों को बताएंगे हमको ज्ञान हो गया दूसरे को ठगना चाहेगा दूसरे को क्या ठगेगा भिन्न को ही नहीं अपने आप ही पतन का हेतु होता है तो उद्धार नहीं होता है उसको कहा गया ब्रह्म बंधु इसलिए सुष्टु माहम अहम वेद ब्रह्म तो विरोचना को इंद्र को भी हो गया था इसे आशंका करके शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि त्याह इसलिए मंत्र में श्रुति में भी शिष्य बुद्धि को थोड़ा विचालन करने के लिए अगले आचार्य गुरु कहते हैं तब तो वो वास्तव ज्ञान हुआ नहीं हुआ आचार्य पढ़ा कोई शिक्षा देते समय शिष्य ठीक समझता है नहीं समझता है उसको विचारण करने के लिए प्रश्न करते हैं ठीक-ठीक समझाए तो उत्तर मिलेगा नहीं तो कभी-कभी ठीक उत्तर दिया क्या ईट हो जाएगा हाँ, नहीं होगा नहीं होगा तुरंत मना कर देते इतना ही होगा हाँ होगा <laughs> जो पूछेंगे तुरंत उसका भी विपरीत दृढ़ निश्चय तो ठीक आएगा दो बार जितने पूछो तो वही कहेगा यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मण रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वतनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति यदि त्वं मन्यसे मानते हो सृष्टि वेदाहम इति मैं जान लिया ठीक ऐसा ही जानते हो दहरम एवापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मण रूपम यदस्य दहरम तो स्वल्प ही नूनम अवश्यम तुम जानते हो ब्रह्म का स्वरूप यदस्य ब्रह्मण रूपम एव नून थोड़ा ही जानते हो त्वम यदस्य देवेषु अपने आध्यात्मिक अथवा देवता में जो रूप थोड़ा जानते हो वो स्वल्प ही जानते हो अथनु मीमांस्यमेव ते इसलिए अथनु का तो तस्मात मीमांस्यमेव ते विचार करना है तुम्हारा ज्ञान और विचार करना चाहिए मीमांस्यमेव मेव ते इतने करने पर शिष्य जाकर फिर विचार करने लगा फिर विचार करते करते एकदम दृढ़ निश्चय हो गया फिर ला मन ने विदितम अभी समझ में आया मन ने विदितम फिर आकर आचार्य के पास कहेगा ये सुष्टु वेदाहम ऐसा जानने पर शिष्य बुद्धि विचारण करने के लिए यदि मन से सुवेदित कहा गया मंत्र में किंतु इसमें आपत्ति क्या है मैं ब्रह्म को जान लिया ऐसे ज्ञान तो इष्ट या नहीं ब्रह्म ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए उसको ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म को जान लिया हूं तो आपत्ति क्या है वो तो ठीक है ननु इष्टेव सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपति ये तो इष्ट है सुवेदाहम सुष्ट वेदाहम ऐसे निश्चित ज्ञान तो इष्ट है सुष्टु वेदम निश्चय अत्यंत रूप से ब्रह्म को मैं सुष्टु अच्छी तरफ से जान लिया तो निश्चित ज्ञान तो चाहिए निश्चित ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति होगी तो निश्चित प्रतिपत्ति और निश्चित प्रति तो इष्ट है तो इसमें क्या आपत्ति है फिर बुद्धि विचारण करने के लिए आचार्य क्यों कहते हैं ये शंका से उत्तर देते सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति निश्चिता प्रतिपत्ति निश्चय ज्ञान इष्ट है इतने तो सत्य आपने जो कहा सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति निश्चित ज्ञान इष्ट है किंतु नहीं सुवेदाम इति सुवेदाहम इति न इष्टा सुष्टु वेदाम अच्छी तरह से जान लिया ये ठीक नहीं है ब्रह्म का निश्चय ज्ञान इष्ट है आवश्यक है अज्ञान क्या निवर्तक है किंतु सुवेदाहम सुष्टु वेदाम मैं ब्रह्म को ठीक जान लिया ये इष्ट नहीं है ज्ञान इष्ट है किंतु मैं जान लिया ब्रह्म को ये जो कथन है ऐसा ज्ञान इष्ट नहीं है यदि वेद्यम वस्तु विषय भवति तत्सुष्टुम वेदितुम शक्यम दाह्यमेव दग्धुम अग्नेर दग्धुर न त्वग्ने स्वरूपमेव यदि वेद्यम वस्तु जो वेद्य ज्ञेय पदार्थ है विषय भवति विषय होता है ज्ञान का विषय होता है वेद्य है ज्ञेय जो ज्ञेय वस्तु ज्ञान का विषय होता है ज्ञान का जो विषय है रूप रस घटपट आदि तत्सुष्टुम वेदितुम सक्यम वह अच्छे तरह से जाना जा सकता है तत् घटपट आदि रूप आदि सुष्टु वेदितुम सक्यम अच्छे रूप से जाना जा सकता है जो वेद्य वस्तु ज्ञेय पदार्थ है ज्ञान का विषय होता है वो ठीक-ठीक जाना जा सकता है तत सुष्टु वेदितुम सक्यम ऐसे कौन पदार्थ है को दृष्टांत देते हैं दाहे में व दग्धुम अग्नेर दग्धुर न तो अग्नि स्वरूप अग्नि है दग्धा दह धातु से त्रिच करें तो क्या बनेगा दग्धा दग्धरी शब्द प्रातिपद दग्धा बनेगा दग्धा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है पुल्लिंग है दग्धा दग्धरी प्रातिपदिक है दग्धि दग्धा अग्नि दग्धुम शक्ति शक्नोति दाह कर सकती है अग्नि किसको दाह कर सकती है हैं काष्ठ दाह्यम दाह्य को दाह कर सकती अग्नि दाह्यम इव दग्धुम शक्नोति अग्नेर दाह्यम अग्नि का दाह्य काष्ठ आदि काष्ठ को अग्नि दाह कर सकती है दाह्यमिव दग्धुम अग्नेर दग्धुर अग्नि दग्धु अग्नि षष्ट्यंत दग्धि का षष्ट्यंत क्या बनेगा दग्धु अग्नि दग्धा अग्नि का दाह्य काष्ठादि दग्धम शक्यम दाह किया जा सकता है अग्नि दग्धा है दाह्य काष्ठ को दहन कर सकते अग्नि दाह्यमेव यथा दाह्यम काष्ठादिकम अग्ने दग्धुम सक्यम अग्नि का दाह्य है काष्ठ आदि दग्धु अग्ने दाहकस्य अग्ने दग्धु का अर्थ तो दाहकस्य अग्नि दाहक है क्या अग्ने दग्धुर दाहकस्य अग्ने दाहक अग्नि का दाह्य काष्ठ आदि दग्धम शक्य न तो अग्नि स्वरूपमेव अग्नि अपने से भिन्न काष्ठ को दाह कर सकती है हैं अपने आप को दहन कर देगा नहीं न तो अग्नि स्वरूपमेव अग्नि है स्वरूपमेव दग्धम शक्यम अग्नि ना अग्नि अपने स्वरूप को दाह कर लेगी जोर से जलाएंगे तो अग्नि बहुत अग्नि जलाएंगे तो अग्नि जल जाएगी अग्नि को दाह नहीं करती है अग्नि अपने से भिन्न दाह काष्ठ आदि को तो दह कर दाह कर देगी अपने स्वरूप को दाहन नहीं करती है अग्नि इसी प्रकार जो विषय होता है उसको तो कोई प्रकाश करेगा तुम सक्यम यद ज्ञान विषय ज्ञेय पता तो ज्ञान जाना जा सकता है अपना स्वरूप ज्ञेय होगा जो ज्ञान है घटपट आदि को प्रकाश कर सकता है किंतु ज्ञान स्वयं ज्ञेय नहीं होगा ऐसे तुम न सक्यम ज्ञानम दाह्य जिस प्रकार अग्नि का दाह्य काष्ठ आदि अग्नि के द्वारा दहन करने योग्य है दहन हो जाएगा न तो अग्नि में टीका में तो स्वरूपत्वे ब्रह्मण महाभूत विषयत्वम वेदिता ज्ञाता है ब्रह्म यदि ज्ञाता का स्वरूप होगा तो महाभूत विषय तो महाभूत मास्तु वेदिता ज्ञाता यदि ब्रह्म का स्वरूप होता तो ज्ञेय नहीं होगा पूर्व पीछे शंका करता है ज्ञाता यदि ब्रह्म का स्वरूप होगा ब्रह्म ही होगा तो ज्ञेय नहीं होगा ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय ज्ञाता से भिन्न होता है ज्ञेय जो जाना जाता है वो ज्ञेय ज्ञेय का ज्ञान होता है ज्ञान का आश्रय को क्या कहेंगे ज्ञाता और ज्ञान का विषय को ज्ञेय घटम जानामि घट ज्ञानवान अहम घट का ज्ञान हुआ ज्ञान का आश्रय कौन होगा ज्ञाता जो जानने वाला और ज्ञान का आश्रय होता है घट तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन होते हैं ज्ञान ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय का ज्ञान होता है यदि ज्ञेय पदार्थ जो अपने से भिन्न है वो तो जाना जाता है और ज्ञाता यदि स्वयं ब्रह्म ज्ञाता का स्वरूप ही ब्रह्म होगा ज्ञाता से भिन्न ब्रह्म होता तो जाना जाता ब्रह्म यदि ज्ञाता का स्वरूप ही हो जाएगा ज्ञाता ही ब्रह्म है तो फिर वो तुम न सक्यम पूर्व पीछे कहता है ब्रह्म यदि ज्ञाता का स्वरूप होगा तब तो जाना नहीं जाएगा क्योंकि अपना स्वरूप हो गया किंतु स्वरूप है कैसे निश्चय हुआ ब्रह्म तो कोई कहां उतर है अलग है जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ज्ञाता तो यहाँ बैठा है वो कैसे ब्रह्म उसका स्वरूप होगा वेदित सर्वपते ब्राह्मण महाभूत विषयत्वम ब्रह्मण वेदित सर्वपते ब्रह्म यदि ज्ञाता का स्वरूप होता तो महाभूत विषयत्वम ब्रह्मण विषयत्वमास्तु ब्रह्म विषय नहीं होगा क्योंकि वेदिता का स्वरूप ब्रह्म यदि ज्ञाता का स्वरूप होगा तो ज्ञान का विषय नहीं होगा नहीं हो किंतु स्वरूपत्व माना भावात स्वरूप है ब्रह्म ऐसे कि मैं कोई प्रमाण नहीं ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म कैसे ज्ञाता का स्वरूप तो यहाँ है स्वयं तो ज्ञाता है सुखी दुखी वो जानना चाहता है वो कैसे ब्रह्म है स्वरूपत्व माना भावात ब्रह्मण स्वरूपत्व कोई प्रमाण नहीं ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म इसमें कोई प्रमाण नहीं होने से नहीं होने से क्या हुआ ब्रह्म अपने से भिन्न है ब्रह्म यदि अपने से भिन्न होगा तो अतिरिक्त होगा ना नहीं अतिरिक्त हो तो ज्ञेय हो सकता है ना नहीं तो अतिरिक्त से विषय तो किम अनुपपन्न अपने स्वरूप में कोई प्रमाण नहीं होने से भिन्न हुआ अतिरिक्त हुआ यदि ज्ञाता से अतिरिक्त है ब्रह्म वो विषय होने में क्या आपत्ति है किम अनुपपन्नम क्यों नहीं हो सकता है अतिरिक्त से ब्रह्मण वेदा ज्ञाता से अतिरिक्त भिन्न यदि ब्रह्म है वो विषय हो तो क्या आपत्ति है किम अनुपपन्नम क्या प्रमाणिक क्यों नहीं हो सकता है इत तो आशंक उत्तर देते सर्व से ही भाष्य में सर्व से ही वेदितो स्वात्मा ब्रह्मेति सर्व वेदांतानां सुनिश्चितोर्थ ब्रह्म सर्वस्य वेदितो स्वात्मा ब्रह्म ज्ञाता का आत्मा है ब्रह्म ब्रह्म कितने हैं अरे ज्ञाता आने के बैठे सब का स्वरूप ब्रह्म होगा तो ब्रह्म भी अनेक हो जाएगा कहते जीव ब्रह्म सब लोग द्वैतवादी लोग क्या पद देते हैं जीव यदि ब्रह्म है जीव तो अनेक है तो ब्रह्म भी अनेक हो गया सारे जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म एक है तो सारे जीव अनंत जीव है तो ब्रह्म भी बहुत हो जाएगा इसलिए कहते सारे जीव का आत्मा ब्रह्म है सारे जीव का आत्मा अनेक नहीं एक है सर्वसे वेदितु जितने वेदिता ज्ञाता है जीव उनका स्वात्मा ब्रह्म अपने स्वरूप ही ब्रह्म है सब का एक स्वरूप हो सकता है अनेक प्रतिबिंब है बिंब एक हो सकता है क्या चिदाभास अनेक है सब के अंतकण में सब का स्वरूप बिंब रूप है दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसका वास्तव स्वरूप क्या है दर्पण है या दर्पण के पीछे कोई है वास्तव स्वरूप कौन है दर्पण जो दिखता है बिंब से अपना स्वरूप एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब हो सकता है तो बिंब किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है हजार प्रतिबिंब आपके मुख का तो प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप कौन किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है बिंब सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक है या अनेक है प्रतिबिंब अनेक है सबका वास्तव स्वरूप एक बिंब है एक है प्रतिबिंब अनेक है तो सबका स्वरूप यदि बिंब है तो बिंब भी अनेक हो जाएगा प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब है अप्रतिबिंब अनेक है इसी बिंब भी अनेक है बिंब अनेक है क्या जिस प्रकार प्रतिबिंब अनेक होने पर भी प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब होने पर भी प्रतिबिंब अनेक किंतु बिंब एक है इसी प्रकार वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है वेदिता अनेक होने पर भी सबका स्वरूप एक ही ब्रह्म है सर्वसे वेदित तो ब्रह्म इति जितने ज्ञाता है ये सबका स्वरूप ब्रह्म है आत्मा स्वरूप ब्रह्म सर्वसे वेदित तो ये एक वचन प्रयोग कर दिया ज्ञाता जितने है सब का ज्ञाता ब्रह्म है इति सर्व वेदांता नाम सुनिश्चित अर्थ सारे वेदांत का सुनिश्चित अर्थ है एक ही ब्रह्म है सब ज्ञाता का स्वरूप क्योंकि उससे भिन्न कोई नान्य अत्तोस्ति दृष्टा श्रोता मता विज्ञाता उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मता ज्ञाता है ही नहीं एक ही है यह च तदेव प्रतिपादितम वही जो सब का स्वरूप ब्रह्म सारे वेदांत का सुनिश्चित अर्थ है वही यहाँ प्रतिपादन किया गया तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचन उक्त्या प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर प्रश्नोत्तर वाक्य के द्वारा वही ब्रह्म प्रतिपादन किया गया प्रश्न है केने सीताम पहले प्रश्न किया श्रोत्र से सत्वम चक्षु से चक्षु उत्तर है श्रोत्र से सत्वम इत्याद्यया इत्याद्या उक्त्या इत्यादि उक्ति के द्वारा वही सब का स्वरूप ब्रह्म एक अद्वितीय वही प्रतिपादन किया गया यद वाचान भेदितम इति विशेषतः अवधारितम वाचा वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं जो वाणी आदि का प्रकाशक है विशेषण निश्चय किया गया ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय सुक्त ब्रह्मविद संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश से निश्चय होता है इति शिष्य अन्य देवता विदिताद अथवा विदिताद अधि इति सुषम धीराणा ये ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी के संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश उसे जन्य निश्चय भी कहा गया अन्य देवता तद विदिता तत विदिता दधि ये पहले कहा गया इत उपन्यासतम पहले कहा गया आगे उपसंहार भी करेंगे उपसंहरिष्यति च अभिज्ञातम विज्ञानतम विज्ञातम इति श्रुति का तात्पर्य ग्रहण करने के लिए जानने के लिए तात्पर्य ग्राहक लिंग अच्छे है प्रथम लिंग है उपक्रम उपसंहारो उपक्रम जिससे किया गया अंत में उपसंहार में किया गया उपक्रम उपसंहार एक उपक्रम आरंभ उपसंहार एक है तो उसे का ही प्रतिपादन किया गया ग्रंथ के द्वारा उपक्रम उपसार उपक्रम क्या प्रारंभ है अन्य देव तद्विदिता तत्विदिता तदि इति उपक्रम्य आरंभ करके उपन्यासतम पहले कहा गया प्रश्न उत्तर करके उपसंहरिषति च आगे उपसार करेंगे अभिज्ञात विज्ञानता विज्ञातम अभिज्ञानता विज्ञान विज्ञानतम अभिज्ञातम जो ब्रह्म को जानते हैं विज्ञानता विशेष रूप में जानताम ब्रह्म अभिज्ञात होता है विज्ञात नहीं होता है विषय नहीं होता है वास्तव जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके दृष्टि से ब्रह्म अभिज्ञात होता है अविषय होता है विषय नहीं होता है विजानतम अभिज्ञातम विजानतम ज्ञानियों के लिए ब्रह्म अविषय अभिज्ञात होता है विषय नहीं होता है विज्ञातम अभिजानता अब अभिजानताम जो नहीं जानते हैं नहीं जानते मतलब ठीक नहीं जानते देहादि को जानते आत्मा अभिजानता हम बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए ज्ञान है तो भेड़ चराने वाले ब्रह्म को नहीं जानते इस वही ब्रह्म ज्ञानी है विज्ञातम अभिजानता का कहीं अर्थ करते जो नहीं जानने वाले वो ठीक जानते जो जानने वाले वो ठीक नहीं जानते जो नहीं जानने वाले वो ठीक जानते तो नहीं जानने वाले भेड़ बकरी चराने वाले उनको जाकर उनकी पूजा करो आप ही ब्रह्म ज्ञानी क्योंकि बिल्कुल आप नहीं जानते जो बिल्कुल नहीं जानता है वही ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा अर्थ है बिल्कुल कुछ नहीं जानता है भेड़ बकरी चराने वाला ब्रह्म शब्द भी नहीं सुना है वही वास्तव ब्रह्म ज्ञानी है होगा ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो अभिजानता विज्ञान विज्ञानतम का अर्थ अभिजानतम देहादि को में अहम बुद्धि करने वाले वो ब्रह्म को जानते हैं देहादि में बुद्धि करने वाले वो अभिजानताम अज्ञानी देहादि को जो मानते हैं ब्रह्म देह विज्ञात होता है या नहीं तो उनके लिए ब्रह्म विज्ञात हो गया देह को जो ब्रह्म मानता है उसके लिए ब्रह्म विज्ञातम इंद्र को जो ब्रह्म मानेगा उसके लिए ब्रह्म विज्ञात विषय हो जाता है मन को जो ब्रह्म मानेगा उसके लिए ब्रह्म विज्ञातम मन ज्ञ होता है तो अभिजानताम का अर्थ देहादि में अहम बुद्धि करने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञातम ज्ञेय होता है ज्ञान का विषय होता है अर्थात जो ज्ञेय होता है मानता है वो अज्ञानी है अब ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्म ज्ञेय नहीं होता है विषय नहीं होता है तस्माद युक्तमेव शिष्यस्य सुविदेति बुद्धिम निराकृतम इसलिए ब्रह्म विज्ञात हुआ ऐसे यदि शिष्य की बुद्धि है और तो बुद्धि भ्रांति है क्योंकि ब्रह्म विषय नहीं होता है और सुष्टु वेदा हम ऐसे विधंजय निश्चय हो गया ऐसे बुद्धि का निराकरण करना युक्त है युक्तमेव शिष्यस्य बुद्धिम निराकृतम शिष्य की जो बुद्धि कैसी बुद्धि हुई थी सुष्टु वेदाम ब्रह्म को ठीक जानता सुवेदिति बुद्धिम निराकर्तम युक्तमेव युक्त ही ये यहाँ तक शंका हुई पहले जो कहा शिष्य बुद्धि विचारणार्थम यदि मन्यते इसके पर शंका हुई हम सुवेदाम वेदा वेदाम ये तो ज्ञान चाहिए निश्चय ज्ञान होने पर ज्ञान की निवृत्ति होगी तो सिद्धांत ने कहा ठीक है निश्चित ज्ञान तो चाहिए किंतु ब्रह्म को सृष्ट में जानता हूं ये नहीं है ब्रह्म अहम अस्मि ज्ञानी कोई भी साधक भी अहम अस्मि ब्रह्म जितने सोचे कहे तो कोई आपत्ति नहीं है वास्तव है अनुभूति रभावेपि तेव चिंत्यता अब अनुभव नहीं हुआ तो भी मैं ब्रह्म हूं चिंतन कर कह तो कोई आपत्ति नहीं किंतु जब मानने लगा अहम ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि वेदा हम ब्रह्म को जान लिया थोड़ी श्रवण करने के बाद समझ लगा है मुझे तो ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया मैं ब्रह्म ज्ञानी जब मानने लगा तो गया नीचे गिरा मैं ब्रह्म ज्ञानी ये भ्रांति है अहम ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो अपने को ब्रह्म मानेगा ब्रह्म ज्ञानी नहीं मानता है इसे सुष्टु वेदा हम ये ज्ञान ठीक नहीं होने से इसको विचलन करना ठीक है तस्मा युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धि निराकृतम नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्निर्वत अग्नम अग्ने इस अग्नि के लिए पहले आया था इसमें वेदिता वेदितुर वेदितुम तीन है वेदिता प्रथमांत वेदितुम तुमन वेदितु सत्यन्ते वेदितुम तुमन प्रत्यांत वेदिता क्या प्रत्यांत है प्रातिपदिक क्या है वेदित्री का प्रथमांत वेदिता वेदितु षष्ठी अंत वेदिति का षष्ठी वेदितु ज्ञाता ज्ञातु के द्वारा षष्ठी का अर्थ तृतीया करना ज्ञाता का शक्य न शक्य वेदितुम ज्ञाता वेदिता ज्ञाता वेदितु न शक्य वेदितुम ज्ञाता के द्वारा नहीं जाना जा सकता है स्वयं अपना स्वरूप नहीं वेदिता वेदितुम शक्य वेदिता वेदे तो न शक्य वेदिता ज्ञाता नहीं जाना जा सकता है वेदितुम न शक्य वेदिता वेदितु वेदिता के द्वारा ज्ञाता के द्वारा स्वयं अपने स्वरूप जाना नहीं जा सकता है वेदिता स्वयं अपने को नहीं जान सकता है अपने से भिन्न को जान सकता है ज्ञाता अपने से भिन्न को जान सकता है अपने स्वरूप को नहीं वेदिता वेदितो न शक्य वेदिता ज्ञाता नहीं जाना जा सकता है वेदितु का तो वेदित्रा ज्ञाता के द्वारा स्वयं ज्ञाता नहीं जाना जा सकता है वेदितु षष्ठी है अर्थ करना ज्ञाता के द्वारा ज्ञाता स्वयं नहीं जाना जा सकता है अग्निरिव दग्धम अग्ने जिस प्रकार अग्ने स्वरूपम अग्नि दग्धम न सक्यम अग्नि के द्वारा अपना स्वरूप अग्नि दग्धम सक्यम अग्नि अपने स्वरूप को दाह नहीं कर सकती है इस प्रकार वेदिता अपने आप को नहीं जान सकता है वेदिता वेदितुर वेदितुन वेदिता के द्वारा स्वयं वेदिता ज्ञाता जाना नहीं जा सकता है इस सृष्टि वेदाहम ये ज्ञान ठीक नहीं है तो आगे शंका करेंगे इसके ऊपर स्पष्ट सृष्टि वेदाहम ये ज्ञान यथार्थ क्यों नहीं है ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि